धरेत् आत्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः योग परम मंगल है परम मंगल इस अर्थ में कि केवल योग के ही माध्यम से जीवन के सत्य की और जीवन के आनंद की उपलब्धि है परम मंगल इस अर्थ में भी कि योग की दिशा में गति करता व्यक्ति अपना मित्र बन जाता है और योग के विपरीत दिशा में गति करने वाला व्यक्ति अपना ही शत्रु सिद्ध होता है कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से उचित है समझदारी है बुद्धिमत्ता है इसी में कि व्यक्ति अपनी आत्मा का अधोगमन ना करे ऊर्ध्वगमन करे और ये दोनों बातें संभव हैं इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है व्यक्ति की आत्मा स्वतंत्र है नीचे यात्रा करने के लिए भी ऊपर यात्रा करने के लिए भी स्वतंत्रता में सदा ही खतरा भी है स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है अपने अहित की भी स्वतंत्रता अगर कोई आपसे कहे कि आप सिर्फ वही करने में स्वतंत्र हैं जो आपके हित में है वो करने में आप स्वतंत्र नहीं है जो आपके हित में नहीं है तो आपकी स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं होगा कोई अगर मुझसे कहे कि मैं स्वतंत्र हूं सिर्फ धर्म करने में और अधर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होगा वो परतंत्रता का ही एक रूप है मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है और जब भी हम कहते हैं कोई स्वतंत्र है तो दोनों दिशाओं की स्वतंत्रता उपलब्ध हो जाती है बुरा करने की भी भला करने की भी दूसरे के साथ बुरा करने की स्वतंत्रता अपने साथ बुरा करने की स्वतंत्रता बन जाती है और दूसरे के साथ भला करने की स्वतंत्रता अपने साथ भला करने की स्वतंत्रता बन जाती है मनुष्य चाहे तो अंतिम नरक के दुख तक यात्रा कर सकता है और चाहे वही मनुष्य ठीक वही मनुष्य जो अंतिम नरक को छूने में समर्थ है चाहे तो मोक्ष के अंतिम सोपान तक भी यात्रा कर सकता है ये दोनों दिशाएं खुली हैं और इसीलिए मनुष्य अपना मित्र भी हो सकता है और अपना शत्रु भी है हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने मित्र होते हैं अधिक तो अपने शत्रु ही सिद्ध होते हैं क्योंकि हम जो भी करते हैं उससे अपना ही आत्मघात होता है और कुछ भी नहीं किसे हम कहें कि अपना मित्र है और किसे हम कहें कि अपना शत्रु है एक छोटी सी परिभाषा निर्मित की जा सकती है हम ऐसा कुछ भी करते हो जिससे दुख फलित होता है तो हम अपने मित्र नहीं कहे जा सकते स्वयं के लिए दुख के बीज बोने वाला व्यक्ति अपना शत्रु है और हम सब स्वयं के लिए दुख के बीज बोते निश्चित ही बीज बोने में और फसल काटने में बहुत वक्त लग जाता है इसलिए हमें याद भी नहीं रहता कि हम अपने ही बीजों के कि साथ की गई मेहनत की फसल काट रहे हैं अक्सर फासला इतना हो जाता है कि हम सोचते हैं बीज तो हमने बोए थे अमृत के न मालूम कैसा दुर्भाग्य कि फल जहर के और विष के उपलब्ध हुए लेकिन इस जगत में जो हम बोते हैं उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी न मिलता है न मिलने का कोई उपाय हम वही पाते हैं जो हम अपने को निर्मित करते हैं हम वही पाते हैं जिसकी हम तैयारी करते हैं हम वही पहुंचते हैं जहां की हम यात्रा करते हैं हम वहां नहीं पहुंच सकते जहां की हमने यात्रा ही न की हो यद्यपि हो सकता है यात्रा करते समय हमने अपने मन में कल्पना की मंजिल कोई और बनाई हो रास्तों को इससे कोई प्रयोजन नहीं है मैं नदी की तरफ जा रहा हूं मन में सोचता हूं कि नदी की तरफ जा रहा हूं लेकिन अगर बाजार की तरफ चलने वाले रास्ते पर चलूंगा तो मैं कितना ही सोचूं कि मैं नदी की तरफ जा रहा हूं मैं पहुंचूंगा बाजार सोचने से नहीं पहुंचता आदमी किन रास्तों पर चलता है उनसे पहुंचता है मंजिलें मन में तय नहीं होती रास्तों पर तय होती आप कोई भी सपना देखते रहें अगर आपने बीज नीम के बो दिए हैं तो सपने आप शायद ले रहे हो कि कोई स्वादिष्ट मधुर फल लगेंगे आपके सपनों से फल नहीं निकलते फल आपके बोए गए बीजों से निकलते इसलिए अखीर में जब नीम के कड़वे फल हाथ में आते हैं तो शायद आप दुखी होते हैं और पछताते हैं सोचते हैं मैंने तो बीज बोए थे अमृत के फल कड़वे कैसे आए ध्यान रहे फल ही कसौटी है परीक्षा है बीज की फल ही बताता है कि बीज आपने कैसे बोए थे आपने कल्पना क्या की थी उससे बीजों को कोई प्रयोजन नहीं है हम सभी आनंद लाना चाहते हैं जीवन में लेकिन आता कहा है आनंद हम सभी शांति चाहते हैं जीवन में लेकिन मिलती कहां है शांति हम सभी चाहते हैं कि सुख महासुख बरसे पर बरसता कभी नहीं है तो इस संबंध में एक बात इस सूत्र से समझ लेनी जरूरी है कि हमारी चाह से नहीं आते फल हम जो बोते हैं उससे आते हैं हम चाहते कुछ हैं बोते कुछ हैं हम बोते जहर हैं और चाहते अमृत हैं फिर जब फल आते हैं तो जहर के ही आते हैं दुख और पीड़ा के ही आते हैं नर्क ही फलित होता है हम सब अपने जीवन को देखें तो ख्याल में आ सकता है जीवन भर चल के हम सिवाय दुख के गढ़ों के और कहीं भी नहीं पहुंचते मालूम पड़ते हैं रोज दुख घना होता चला जाता है रोज रोज रात कटती नहीं और बड़ी होती चली जाती रोज मन पर और संताप के कांटे फैलते चले जाते हैं फूल आनंद के कहीं खिलते हुए मालूम नहीं पड़ते पैरों में पत्थर बंध जाते हैं दुख के पैर नृत्य नहीं कर पाते हैं उस खुशी में जिस खुशी की हम तलाश में फिर कहीं ना कहीं हम हम ही क्योंकि और कोई नहीं हम ही कुछ गलत बोलेते हैं उस गलत बोने में ही हम अपने शत्रु सिद्ध होते हैं बीज बोते वक्त ख्याल रखना क्या बो रहे हैं बहुत हैरानी की बात है एक आदमी क्रोध के बीज बोए और शांति पाना चाहे और एक आदमी घृणा के बीज बोए और प्रेम की फसल काटना चाहे और एक आदमी चारों तरफ शत्रुता फैलाए और चाहे कि सारे लोग उसके मित्र हो जाएं और एक आदमी सबकी तरफ गालियां फेंके और चाहे कि सुभाषी सारे आकाश से उसके ऊपर बरसने लगे पर आदमी ऐसी ही असंभव चाह करता है द इम्पॉसिबल डिजायर मैं गाली दू और दूसरा मुझे आदर दे जाए ऐसी ही असंभव कामना हमारे मन में बैठी चलती है मैं दूसरे को घृणा करूं और दूसरे मुझे प्रेम कर जाएं मैं किसी पर भरोसा ना करूं और सब मुझ पर भरोसा कर लें मैं सबको धोखा दूं और मुझे कोई धोखा ना दे मैं सबको दुख पहुंचाऊं लेकिन मुझे कोई दुख ना पहुंचाए ये असंभव है जो हम बोएंगे वो हम पर लौटने लगेगा और जीवन का सूत्र है कि जो हम फेंकते हैं वही हम पर वापस लौट आता है चारों ओर से हमारी ही फेंकी गई ध्वनियां प्रतिध्वनित होकर हमें मिल जाती देर लगती है जाती है ध्वनि टकराती है बाहर के दिशाओं से वापस लौटती है वक्त लग जाता है जब तक लौटती है तब तक हमें ख्याल भी नहीं रह जाता कि हमने जो गाली फेंकी थी वही वापस लौट रही है बुद्ध का एक शिष्य मोगलान एक रास्ते से गुजर रहा है उसके साथ दस पंद्रह सन्यासी और हैं जोर से पैर में पत्थर लग जाता है रास्ते पर खून बहने लगता है मोगलान आकाश की तरफ हाथ जोड़कर किसी आनंद भाव में लीन हो जाता है उसके चारों तरफ वे पंद्रह भिक्षु हैरानी में खड़े रह जाते हैं मोगलान जब अपने ध्यान से वापस लौटता है तो वो उससे पूछते हैं आप क्या कर रहे थे पैर में चोट लगी पत्थर लगा खून बहा और आप कुछ ऐसे हाथ जोड़े थे जैसे किसी को धन्यवाद दे रहे हो मोगलान ने कहा बस ये एक ही मेरा बिस का बीज और बाकी रह गया था मारा था किसी को पत्थर कभी आज उससे छुटकारा हो गया आज नमस्कार करके धन्यवाद दे दिया है प्रभु को कि अब अब मेरे कुछ भी बोए हुए बीज ना बचे यह आखिरी फसल समाप्त हो गई है लेकिन अगर आपको रास्ते पे चलते वक्त पत्थर पैर में लग जाए तो इसकी बहुत कम संभावना है कि आप ऐसा सोचें कि किसी बोए हुए बीज का फल हो सकता है ऐसा नहीं सोच पाएंगे संभावना यही है कि गली के रास्ते पर पड़े हुए पत्थर को भी आप एक गाली जरूर देंगे पत्थर को भी और कभी ख्याल भी ना करेंगे कि पत्थर को दी गई गाली भी फिर बीज बो रहे हैं आप पत्थर को दी गई गाली भी बीज बनेगी सवाल ये नहीं है किसको गाली दी सवाल यह है कि आपने गाली दी वो वापस लौटेगी ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि किसको गाली दी वो गाली वापस लौटेगी सुना है मैंने कि जीसस के पास एक आदमी आया गांव का साधारण ग्रामीण किसान है बैलों को गाली देने में बहुत ही कुशल है अपनी बैलगाड़ी में जोत के जीसस निकलते हैं गांव के रास्ते से वह आदमी अपने बैलों को बेहूदी गालियां दे रहा है बड़े आंतरिक संबंध बना रहा है गालियों से जीसस उसे रोकते हैं और कहते हैं कि पागल तू ये क्या कर रहा है तो वह आदमी कहता है कि कोई बैल मुझे गाली वापस तो नहीं लौटा देंगे तो क्या मेरा बिगड़ेगा वह आदमी ठीक कहता है हमारा गणित बिल्कुल ऐसा ही है जो आदमी गाली वापस नहीं लौटा सकता उसे गाली देने में हर्ज क्या है इसलिए अपने से कमजोर को देख के हम सब गाली देते हैं कभी तो हम बेवक्त भी गाली देते हैं जबकि कोई जरूरत भी ना हो कमजोर दिखा कि हमारा दिल मचलाता है कि थोड़ा इसको सता लो जीसस ने कहा कि बैलों को गाली तू दे रहा है अगर वे गाली लौटा सकते तो कम खतरा था क्योंकि निपटारा अभी हो जाता लेकिन चूंकि वे गाली नहीं लौटा सकते लेकिन गाली तो लौटेगी तो महंगे सौदे में पड़ेगा ये गाली देना छोड़ जीसस की तरफ उस आदमी ने देखा जीसस की आंखों को देखा उनके आनंद को उनकी शांति को उसने उनके पैर छुए और कहा कि मैं कसम लेता हूं कि अब मैं इन बालों को गाली नहीं दूंगा जीसस दूसरे गांव चले गए दो चार दिन उस आदमी ने बड़ी मेहनत से अपने को रोका लेकिन कसमों से दुनिया में कोई रुकावटें नहीं होती कसम से कहीं कोई रुकावट होती समझ से रुकावट होती है दो चार दिन रोका अपने को जबरदस्ती खाली थी कसम ईसा के प्रभाव में दो चार दिन में प्रभाव छीन हुआ आदमी अपनी जगह वापस लौट आया उसने कहा कि छोड़ो भी ऐसे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे बैलगाड़ी चलाना मुश्किल हो गया हिसाब बैलगाड़ी चलाने का रखें कि गाली न देने का रखें बहलों को जोते कि अपने को जोते रहें बहनों को संभालें कि खुद को संभालें ये तो एक बहुत मुसीबत हो गई गाली उसने वापस देनी शुरू कर दी चार दिन जितनी रोकी थी उतनी एक दिन में निकाल ली रफा दफा हुआ मामला हल्का हुआ मन उसका शांत हुआ कोई तीन चार महीने बाद जीसस उस गांव से वापस निकल रहे हैं उसको तो पता भी नहीं था कि ये आदमी फिर मिल जाएगा रास्ते पर वो धुआंधार गालियां दे रहा है बैलों को जीसस ने खड़े होकर राह के किनारे कहा कि मेरे भाई उसने देखा जीसस को उसने कहा बैलों से दे, कहा देखो बैल ये मैंने तुम्हें गालियां बताई जैसा कि मैं तुम्हें पहले दिया करता था बैलों से बोला ये मैंने तुम्हें गालियां दी जैसे कि मैं तुम्हें पहले दिया करता था अब मेरे प्यारे बेटो जरा तेजी से चलो जीसस ने कहा कि तू बैलों को ही धोखा नहीं दे रहा तू मुझे भी धोखा दे रहा है और तू मुझे धोखा दे इससे कुछ बहुत हर्जा नहीं है तू अपने को धोखा दे रहा है अंतिम धोखा तो खुद पर ही गिर जाता है जीसस ने कहा हो सकता है मैं दोबारा इस गांव फिर कभी ना आऊ मैं माने लेता हूं कि तू बैलों को गालियां नहीं दे रहा था सिर्फ पुराना बैलों को याद दिला रहा था लेकिन किस लिए याद दिला रहा तू मुझे धोखा दे कि तू बैलों को धोखा दे ये बहुत अर्थ नहीं है लेकिन तू अपने को ही धोखा दे रहा जीवन में जब भी हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हम किसी के दूसरे के साथ कर रहे हैं ये भ्रांति है आपकी प्राथमिक रूप से हम अपने ही साथ कर रहे हैं क्योंकि अंतिम फल हमें भोगने हैं वो जो भी हम बो रहे हैं उसकी फसल हमें काटनी है इंच इंच का हिसाब है इस जगत में कुछ भी बेहिसाब नहीं जाता है अपने ही शत्रु हो जाते हैं हम कृष्ण कहते हैं उस क्षण में हम अपने शत्रु हो जाते हैं जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम अपने को ही दुख में डालते हैं अपने ही दुख में उतरने की सीढ़ियां निर्मित करते हैं तो ठीक से देख लेना जो आदमी अपना शत्रु है वही आदमी अधार्मिक अधार्मिक वो है जो अपना शत्रु है और जो अपना शत्रु है वो किसी का मित्र तो कैसे हो सकेगा जो अपना भी मित्र नहीं वो किसका मित्र हो सकेगा जो अपने लिए ही दुख के आधार बना रहा है वो सबके लिए दुख के आधार बना देगा पहला पाप अपने साथ शत्रुता है फिर उसका फैलाव होता है फिर अपने निकटतम लोगों के साथ शत्रुता बनती है फिर दूरतम लोगों के साथ फिर जहर फैलता चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता जैसे कि झील में कोई शांत झील में पत्थर फेंक दे पड़ती है चोट पत्थर तो नीचे बैठ जाता है क्षण भर में लेकिन झील की सतह पर उठी हुई लहरें दूर दूर तक यात्रा पर निकल जाती पत्थर तो बैठ जाता है कभी का लेकिन लहरें चलती चली जाती है अनंत तक ऐसे ही हम जो करते हैं हम तो करके चुप भी जाते हैं आपने गाली दे दी बात खत्म हो गई फिर आप गीता पढ़ने लगे लेकिन वो गाली की जो रिपल्स जो जो में पैदा हुई वो चल पड़ी वो न मालूम कितने दूर के छोरों को छुएंगी और जितना अहित उस गाली से होगा उतना सारा अहित के लिए आप जिम्मेवार हो गए आप कहेंगे कितना अहित हो सकता है एक गाली से अकल्पनीय अहित हो सकता है और जितना अहित हो जाएगा इस विश्व के तंत्र में उतने के लिए आप जिम्मेवार हो जाएंगे और कौन जिम्मेवार होगा आपने ही उठाई वो लहरें आपने ही पैदा किया वो आपने ही बोया बीज और वो चल पड़ा और वो दूर दूर तक फैल जाएगा एक छोटी सी दी गई गाली से क्या क्या हो सकता है अगर आपने अकेले में दी हो और किसी ने न सुनी हो तो तो शायद आप सोचेंगे कि कुछ भी नहीं होगा इसका परिणाम लेकिन इस जगत में कोई भी घटना निष्परिणामी नहीं है उसके परिणाम होंगे ही कठिन मालूम पड़ेगा किसी को गाली दी हो उसका दिल दुखाया हो तब तो हमने कोई शत्रुता खड़ी की लेकिन अंधेरे में गाली दे दी हो तो उससे कोई शत्रुता पैदा हो सकती उससे भी पैदा होती आप बहुत सूक्ष्म तरंगें पैदा करते हैं अपने चारों ओर वे तरंगें फैलती हैं उन तरंगों के प्रभाव में जो लोग भी आएंगे वे गलत रास्ते पर धक्का खाएंगे उन तरंगों के प्रभाव में गलत रास्ते पर धक्का खाएंगे अभी इस पर बहुत काम चलता है सूक्ष्मतम तरंगों पर और ख्याल में आता है कि अगर गलत लोग एक जगह इकट्ठे हों सिर्फ चुपचाप बैठे हों कुछ ना कर रहे हों सिर्फ गलत हों और आप उनके पास से गुजर जाएं तो आपके भीतर जो गलत हिस्सा है वो ऊपर आ जाता है और जो ठीक हिस्सा है वो नीचे दब जाता है दोनों हिस्से आपके भीतर हैं अगर कुछ अच्छे लोग बैठे हों एक जगह प्रभु का स्मरण करते हों कि प्रभु का गीत गाते हों कि किसी सद्भावों के फूलों की सुगंध में जीते हों कि सिर्फ मौन ही बैठे हों जब आप उनके पास से गुजरते हैं वही आप जो गलत लोगों के पास से गुजरे थे और आपका गलत हिस्सा ऊपर आ गया था जब आप इन लोगों के पास से गुजरते हैं तो दूसरी घटना घटती आपका गलत हिस्सा नीचे दब जाता है आपका श्रेष्ठ हिस्सा ऊपर आ जाता है आपकी संभावनाओं में इतने सूक्ष्मतम अंतर होते हैं और हम 24 घंटे जो कर रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं रखता हम क्या कर रहे हैं एक छोटा सा गलत बोला गया शब्द कितने दूर तक कांटों को बो जाएगा हमें कुछ पता नहीं बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते थे कि तुम 24 घंटे राह पर तुम्हें कोई दिखे तो उसकी मंगल की कामना करना वृक्ष भी मिल जाए तो उसकी मंगल की कामना करके उसके पास से गुजरना है पहाड़ भी दिख जाए तो मंगल की कामना करके उसके निकट से गुजरना राहगीर दिख जाए अनजान तो मंगल की कामना करके उसके पास से गुजरना एक भिक्षु ने पूछा इससे क्या फायदा बुद्ध ने कहा कि इसके दो फायदे हैं पहला तो ये कि तुम्हें गाली देने का अवसर न मिलेगा तुम्हें बुरा ख्याल करने का अवसर न मिलेगा तुम्हारी शक्ति नियोजित हो जाएगी मंगल की दिशा में और दूसरा फायदा यह कि जब तुम किसी के लिए मंगल की कामना करते हो तो तुम उसके भीतर भी रिजोनेंस प्रतिध्वनि पैदा करते हो वो भी तुम्हारे लिए मंगल की कामना से भर जाता है अगर इस मुल्क ने राह पर चलते हुए अनजान आदमी को भी राम राम करने की प्रक्रिया बनाई थी तो शायद दुनिया में कहीं नहीं बनाई जा सकी अंग्रेजी में पश्चिम के मुल्कों में अगर वो कहते हैं गुड मॉर्निंग तो वो शब्द बहुत साधारण है सिकुलर है उसका कोई बहुत मतलब नहीं है सुबह अच्छी है लेकिन इस मुल्क में हजारों साल के अनुभव के बाद एक शब्द खोजा था नमस्कार के लिए वो था राम राह पर कोई मिला है और हमने कहा जयराम उस आदमी से कोई मतलब नहीं ये जयराम जी का कोई मतलब नहीं है ये राम का स्मरण है उस आदमी को देख के हमने प्रभु का स्मरण किया जो ठीक से नमस्कार करना जानते हैं वो सिर्फ उच्चारण नहीं करेंगे वो उस आदमी में राम की प्रतिमा को भी देखकर गुजर जाएंगे उन्होंने उस आदमी को देख के प्रभु को स्मरण किया उस आदमी की मौजूदगी प्रभु के स्मरण की घटना बन गई इस मौके को छोड़ा नहीं इस मौके पर एक शुभ कामना पैदा की गई प्रभु के स्मरण की घड़ी पैदा की गई और हो सकता है वह आदमी शायद राम को मानता भी ना हो जानता भी ना हो लेकिन उत्तर में वो भी कहेगा जय राम उसके भीतर भी कुछ ऊपर आएगा और अगर राह से पुराने गांव के राह से गुजरते तो राह पर पच्चीस दफा जयराम कर लेना पड़ता जीवन बहुत छोटी छोटी घटनाओं से निर्मित होता है मंगल की कामना या प्रभु का स्मरण आपके भीतर जो श्रेष्ठ है उसको ऊपर लाता है और दूसरे के भीतर जो श्रेष्ठ है उसे भी ऊपर लाता है जब आप किसी के सामने दोनों हाथ जोड़ कर सिर झुका देते हैं तो आप उसको भी झुकने का एक अवसर देते हैं और झुकने से बड़ा अवसर इस जगत में दूसरा नहीं है क्योंकि झुका हुआ सिर कुछ भी बुरा नहीं सोच पाता झुका हुआ सिर गाली नहीं दे पाता गाली देने के लिए अकड़ा हुआ सिर चाहिए और कभी आपने ख्याल किया हो या न किया हो लेकिन अब आप ख्याल करना जब किसी को हृदय पूर्वक नमस्कार करके सिर झुकाएं और कल्पना भी कर सकें अगर कि परमात्मा दूसरी तरफ है तो आप अपने में भी फर्क पाएंगे और उस आदमी में भी फर्क पाएंगे वो आदमी आपके पास से गुजरा तो आपने उसको पारस का काम किया उसके भीतर कुछ आपने सोना बना दिया और जब आप किसी के लिए पारस का काम करते हैं तो दूसरा भी आपके लिए पारस बन जाता है जीवन संबंध है रिलेशनशिप है हम संबंधों में जीते हैं हम अपने चारों तरफ अगर पारस का काम करते हैं तो यह असंभव है कि बाकी लोग हमारे लिए पारस ना हो जाएं। भी हो जाती है अपना मित्र वही है जो अपने ओर मंगल का फैलाव करता है जो अपने चारों ओर शुभ की कामना करता है जो अपने चारों ओर नमन से भरा हुआ है जो अपने चारों ओर कृतज्ञता का ज्ञापन करता चलता है और जो व्यक्ति दूसरों के लिए मंगल से भरा हो वो अपने लिए अमंगल से कैसे भर सकता है जो दूसरों के लिए भी सुख की कामना से भरा हो वो अपने लिए दुख की कामना से नहीं भर सकता अपना मित्र हो जाता है और अपना मित्र हो जाना बहुत बड़ी घटना है जो अपना मित्र हो गया वो धार्मिक हो गया अब वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जिससे स्वयं को दुख मिले तो अपना हिसाब रख लेना चाहिए कि मैं ऐसे कौन कौन से काम करता हूं जिससे मैं ही दुख पाता हूं दिन में हम हजार काम कर रहे हैं जिनसे हम दुख पाते हजार बार पा चुके हैं लेकिन कभी हम ठीक से तर्क नहीं समझ पाते जीवन का कि हम इन कामों को करके दुख पाते वही बात जो आपको हजार बार मुश्किल में डाल चुकी है आप फिर कह देते वही व्यवहार जो आपको हजार बार पीड़ा में धक्के दे चुका है आप फिर कर गुजरते वही सब दोहराए चले जाते हैं यंत्र की बात में जिंदगी एक पुनरुक्ति से ज्यादा नहीं मालूम पड़ती जैसा हम जीते एक मैकेनिकल रिपीटिशन वही भूले वही चूके नई भूल करने वाला आविष्कारी आदमी भी बहुत कम है बस पुरानी भूलें ही हम किए चले जाते इतनी बुद्धि भी नहीं कि एक आध नई भूल करें पुराना कल किया था वही परसों भी किया था वही आज फिर वही करेंगे कल फिर वही करेंगे इसके प्रति सजग होंगे अपनी शत्रुता के प्रति सजग होंगे तो अपनी मित्रता का आधार बनना शुरू होगा कृष्ण या बुद्ध या महावीर या क्राइस्ट जैसे लोग हाँ, अपने लिए अपने लिए ही इतने आनंद का रास्ता बनाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं ऊपर से हमें लगता है कि ये लोग बिल्कुल त्यागी हैं लेकिन मैं आपसे कहता हूं इनसे ज्यादा परम स्वार्थी और कोई भी नहीं हम त्यागी कहे जा सकते हैं क्योंकि हमसे ज्यादा मूल कोई भी नहीं हम जो भी महत्वपूर्ण है उसका त्याग कर देते हैं और जो व्यर्थ है उस कचरे को इकट्ठा कर लेते हैं और ये बहुत होशियार लोग ये जो व्यर्थ है उस सबको छोड़ देते हैं जो सार्थक है तो उसको बचा लेते हैं जिससे गांव के बाहर ठहरे हुए सांझ का वक्त है उसके उस गांव के पंडित पुरोहितों को बड़ी तकलीफ है जीसस के आने से सदा होती है जब भी कोई जानने वाला पैदा हो जाता है तो झूठे जानने वालों को तकलीफ शुरू हो जाती है जो स्वाभाविक है उसमें कुछ आश्चर्य नहीं है पंडित तो जानते हैं किताबों से जीसस जानते हैं जीवन से तो किताबों से जानने वाला आदमी जीवन से जानने वाले आदमी के सामने फीका पड़ जाता है कठिनाई में पड़ जाता है मुश्किल में पड़ जाता है गांव के पंडित परेशान उन्होंने कहा कि जीसस को फंसाने का कोई उपाय खोजना जरूरी है उन्होंने बड़ा इंतजाम किया और उपाय खोज लिया उपाय की कोई कमी नहीं उन्होंने गांव से एक स्त्री को पकड़ लाए जो कि व्यविचार में पकड़ी गई थी यहूदियों की पुरानी धर्म की किताब में लिखा है कि जो स्त्री व्यविचार में पकड़ी जाए उसको पत्थर मार के मार डालना चाहिए तो उस स्त्री को वे ले आए जीसस के पास और उन्होंने कहा कि ये किताब है हमारी पुरानी धर्म ग्रंथ की इसमें लिखा है कि जो स्त्री व्यविचार करे उसे पत्थर मार के मार डालना चाहिए आप क्या कहते हैं इस स्त्री ने व्यविचार किया ये पूरा गांव गवाह है वो इस जीसस को दिक्कत में डालने के लिए बड़ा सीधा उपाय था अगर जीसस कहे कि ठीक है पुरानी किताब को मान के पत्थरों से मार डालो इसे तो जीसस के उस वचन का क्या होगा जिसमें जीसस ने कहा है कि जो तुम्हें एक चांटा मारे तुम उसके सामने दूसरा गाल कर दो और जो तुम्हारा कोट छीने उसे कमीज भी दे दो और अपने शत्रुओं को भी प्रेम करो उन सब वचनों का क्या होगा तो जीसस को कठिनाई खड़ी हो जाएगी और जीसस कहे कि नहीं पत्थर मार नहीं सकते इसे माफ कर दो क्षमा कर दो तो हम कहेंगे तुम हमारी धर्म पुस्तक के विपरीत बात कहते हो तो तुम धर्म के दुश्मन हो लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जीसस जैसे आदमी को मुट्ठियों में बांधना आसान नहीं होता पारे की तरह होते हैं ऐसे लोग मुट्ठी बांधी के बाहर निकल जाते हैं जीसस ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहती है पुरानी किताब पत्थर हाथ में उठा लो और इस स्त्री को पत्थरों से मार डालो वो तो बड़े हैरान हुए उन्होंने तो सोचा भी ना था कि ये होगा पर जीसस ने कहा ख्याल रखे पहला आदमी वो है पत्थर मारने वाला जिसने व्यविचार न किया हो और व्यविचार का विचार न किया हो कोई आदमी नहीं था उस गांव में जिसने व्यविचार का विचार न किया और किस गांव में ऐसा आदमी जो लोग आगे खड़े थे साफे पगड़ियां वगैरह बांध के पत्थर हाथ में लिए वो धीरे धीरे भीड़ में पीछे सरकने लगे ये तो पत्रों की बात है जो पीछे खड़े थे वो तो भाग खड़े हुए उन्होंने कहा कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं थोड़ी देर में वो नदी का तट खाली हो गया था वो स्त्री थी और जीसस थे जब सारे लोग जा चुके तो इस स्त्री ने जिससे पूछा कि आप मुझे जो सजा दें मैं लेने को तैयार हूं मैं बेविचारी हूं और मुझे कृपा करें और मुझे सजा दें जीसस ने कहा मुझे माफ कर परमात्मा न करे कि मैं किसी का निर्णायक बनूं क्योंकि मैं किसी को अपना निर्णायक नहीं बनाना चाहता जीसस ने कहा परमात्मा न करे कि मैं किसी का निर्णायक बनूं क्योंकि मैं किसी को अपना निर्णायक नहीं बनाना चाहता हूं जीसस का वचन है जज ye not that ye should not be just तुम किसी के निर्णायक मत बनो ताकि कोई तुम्हारा कभी निर्णायक ना बने मैं कौन हूं मैं इतना अहंकार कैसे करूं कि तेरा निर्णय करूं मैं हूं कौन तू जान तेरा परमात्मा जाने मैं कौन मैं तेरे बीच में खड़े होने वाला कौन मैं अगर तुझे जरा ऊंची जगह पर खड़े होकर भी देखूं तो पापी हो गया मैं कौन मैं कोई भी नहीं और फिर तूने खुद स्वीकार किया कि तू व्यविचारणी है तो तू पाप से मुक्त हो गई बात समाप्त हो गई स्वीकृति मुक्ति है अस्वीकृति में पाप छिपता है स्वीकृति में विसर्जित हो जाता है जीसस ने कहा कि मुझे मत उलझा मैं तेरा निर्णायक नहीं बनूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मेरा निर्णय करे जो आप नहीं चाहते कि दूसरे आपके साथ करें कृपा करके वो आप दूसरों के साथ न करें जीसस का पूरे पूरे नई बाइबल का सार एक ही वचन है दूसरों के साथ वो मत करें जो आप नहीं चाहते कि दूसरे आपके साथ करें और अगर इस वाक्य को ठीक से समझ लें तो कृष्ण का सूत्र समझ में आ जाए और कई बार ऐसा मजेदार होता है कि कृष्ण के किसी वाक्य की व्याख्या बाइबल में होती और बाइबल के किसी व्याख्या वाक्य की व्याख्या गीता में होती कभी कुरान के किसी सूत्र की व्याख्या वेद में होती कभी वेद के किसी सूत्र की व्याख्या कोई यहूदी फकीर करता है कभी बुद्ध का वचन चीन में समझा जाता है और कभी चीन में लाओसे का कहा गया वचन हिंदुस्तान का कोई कबीर समझता है लेकिन धर्मों ने इतनी दीवारें खड़ी कर दी हैं इन सबके बीच कि इनके बीच जो बहुत आंतरिक संबंध के सूत्र दौड़ते हैं उनका हमें कोई स्मरण नहीं रहा है नहीं तो हर मंदिर और मस्जिद के नीचे सुरंग होनी चाहिए जिसमें से कोई भी मंदिर से मस्जिद में जा सके और हर गुरुद्वारे के नीचे से मंदिर को जोड़ने वाली सुरंग होनी चाहिए कि कभी भी किसी की मौज आ जाए तो तत्काल गुरुद्वारे से मंदिर या मस्जिद या चर्च में जा सके लेकिन सुरंगों की तो बात दूर ऊपर के रास्ते भी बंद है सब रास्ते बंद अपना मित्र दूसरों के साथ वही करेगा जो वो चाहता है कि दूसरे उसके साथ करे अपना शत्रु दूसरों के साथ वही करेगा जो वो चाहता है कि दूसरे कभी उसके साथ ना करें और जो अपना मित्र हो गया वो योग की यात्रा पर निकल पड़ा है और आत्मा अपनी मित्र भी हो सकती है शत्रु भी हो सकती है ध्यान रखना शत्रु होना सदा आसान है शत्रु होने के लिए क्या करना पड़ता है कभी आपने ख्याल किया अगर आपको किसी का शत्रु होना है तो एक सेकंड में हो सकते हैं और अगर मित्र होना है तो पूरा जन्म भी नाकाफी अगर आपको किसी के शत्रु होना है तो क्षण की भी तो जरूरत नहीं है क्षण भी काफी है एक जरा सा शब्द और शत्रुता की पूरी की पूरी व्यवस्था हो जाएगी लेकिन अगर आपको किसी का मित्र होना है तो पूरा जीवन भी ना काफी है नॉट इनफ पूरी जिंदगी के बाद भी श्रम करने के बाद कहीं कोई चीज अभी दरार बाकी रह जाएगी जो पूरी नहीं हो पाती मित्रता बड़ी साधना है शत्रुता बच्चों का खेल इसलिए हम शत्रुता में आसानी से उतर जाते हैं और खुद के साथ मित्रता तो बहुत ही कठिन है दूसरे के साथ इतनी कठिन है खुद के साथ तो और भी कठिन है आप कहेंगे क्यों दूसरे के साथ इतनी कठिन है तो खुद के साथ और भी कठिन क्यों होगी खुद के साथ तो आसान होनी चाहिए हम तो सब समझते हैं कि हम सब अपने को प्रेम करते ही हैं भ्रांति है वो बात फलसी है झूठ है हम में से ऐसा आदमी बहुत मुश्किल है जो अपने को प्रेम करता हो क्योंकि जो अपने को प्रेम कर ले उसकी जिंदगी में बुराई टिक नहीं सकती असंभव है अपने को प्रेम करने वाला शराब पी सकता है अपने को प्रेम करने वाला क्रोध कर सकता है बुद्ध निकलते हैं एक रास्ते से और एक आदमी बुद्ध को गालियां देता है तो बुद्ध के साथ एक भिक्षु है आनंद वो कहता है कि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इस आदमी को ठीक कर दूं तो बुद्ध बहुत हंसते तो आनंद पूछता है आप हंसते क्यों हो वो आदमी भी पूछता है आप हंसते क्यों हैं तो बुद्ध कहते हैं मैं आनंद की बात सुन के हंसता हूं ये भी बड़ा पागल है दूसरे की गलती के लिए खुद को सजा देना चाहता है बुद्ध कहते हैं दूसरे की गलती के लिए खुद को सजा देना चाहता है आनंद ने कहा मैं समझा नहीं बुद्ध ने कहा गाली उसने दी क्रोध तू करना चाहता है सजा तू भोगेगा क्रोध तो अपने में आग लगाना है हम सब क्रोध को भली भांति जानते हैं क्रोध से बड़ी सजा क्या हो सकती है लेकिन दूसरा गाली देता है हम क्रोध करते हैं बुद्ध कहते हैं दूसरे की गलती के लिए खुद को सजा हम सब वही कर रहे हैं मित्रता अपने साथ कोई भी नहीं और अपने साथ मित्रता इसलिए भी कठिन है कि दूसरा तो विजिबल है दूसरा तो दिखाई पड़ता है हाथ फैलाया जा सकता है दोस्ती का लेकिन खुद तो बहुत इनविजिबल अदृश्य सत्ता है वहां तो हाथ फैलाने का भी उपाय नहीं दूसरे मित्र को तो कुछ भेंट दे जा सकती है कुछ प्रशंसा की जा सकती है कुछ दोस्ती के रास्ते बनाए जा सकते हैं कुछ सेवा की जा सकती है खुद के साथ तो कोई भी रास्ते नहीं खुद के साथ तो शुद्ध मैत्री का भाव ही और कोई रास्ता नहीं है और कोई सेतु नहीं है अगर हो समझ अंडरस्टैंडिंग ही सिर्फ सेतु बनेगी उतनी समझ हमें नहीं है हम सब ना समझी में जीते हैं लेकिन ना समझी में इतनी अकड़ से जीते हैं कि समझ को आने का दरवाजा भी खुला नहीं छोड़ते असल में ना समझ लोगों से ज्यादा स्वयं को समझदार समझने वाले लोग नहीं होते और जिसने अपने को समझा कि बहुत समझदार है समझना को उसने द्वार बंद कर लिए अगर समझदारी उसके दरवाजे पर दस्तक भी दे तो वो दरवाजा खोलने वाला नहीं वो खुद ही समझदार है हमारी समझदारी का सबसे गलत जो आधार है वो ये है कि हम अपने को प्रेम करते ही हैं ये बिल्कुल झूठ है अगर हम अपने को प्रेम करते होते तो दुनिया की यह हालत नहीं हो सकती थी जैसी हालत है अगर हम अपने को प्रेम करते होते तो आदमी पागल ना होते आत्महत्याएं ना करते अगर हम अपने को प्रेम करते होते तो दुनिया में इतना मानसिक रोग ना होता चिकित्सक कहते हैं कि इस समय कोई सत्तर प्रतिशत रोग मानसिक है वो अपने को घृणा करने से पैदा हुए रोग हम सब अपने को घृणा करते हजार तरह से अपने को सताते सताने के नए नए ढंग ईजाद करते अपने को दुख और पीड़ा देने की भी नई नई व्यवस्थाएं खोजते यद्यपि हम सबके पीछे बहुत तर्क इंतजाम कर लेते हैं ये तो चिकित्सक कहते हैं कि 70 प्रतिशत बीमारियां आदमी अपने को सजा देने के लिए विकसित कर रहा है लेकिन मनस चिकित्सक कहते हैं कि यह आंकड़ा छोटा है अभी अंडर एस्टिमेशन आंकड़ा और असली बड़ा है और अगर आंकड़ा किसी दिन ठीक गया तो निन्यानबे प्रतिशत बीमारियां मनुष्य अपने को सजा देने के लिए ईजाद करता इतनी घृणा है खुद के साथ वो हमारे हर कृत्य में प्रकट होती है हर कृत्य में जो भी हम करते हैं एक बात ध्यान में रख लेना तो कसौटी आपके पास हो जाएगी जो भी आप करते हैं करते वक्त सोच लेना इससे मुझे सुख मिलेगा या दुख अगर आपको दिखता हो दुख मिलेगा और फिर भी आप करने को तैयार हैं तो फिर आप समझ लेना कि अपने को घृणा करते और क्या कसौटी हो सकती है मुंह से गाली निकलने के लिए तैयार हो गई पंख उसने फड़फड़ा के खड़ी हो गई जवान पर उड़ने की तैयारी सोच लेना है एक क्षण कि इससे अपने को दुख मिलेगा या सुख दूसरे की मत सोचना क्योंकि दूसरे के सोचने में धोखा हो जाता आदमी सोचता दूसरे को दुख मिलेगा या सुख ये मत सोचना पहले तो अपना ही सोच लेना कि इससे मुझे दुख मिलेगा या सुख और अगर आपको पता चले कि दुख मिलेगा और फिर भी आप गाली दो तो फिर क्या कहा जाए आप अपने को प्रेम करते हैं नहीं हम सोचने का मौका भी नहीं देते नहीं तो डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि गाली न दे पाए गुरजीएफ एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि मेरा बाप मरा तो उसके पास मुझे देने को कुछ भी ना था लेकिन वो मुझे इतनी बड़ी संपदा दे गया है जिसका कोई हिसाब नहीं जब भी वो किसी से ये कहता तो वो चौंकता है क्योंकि वो पूछता है कि तुम कहते हो तुम्हारे बाप के पास कुछ भी न था फिर वो क्या संपदा दे गया तो गुरुजीएफ कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नौ दस साल का था जब मेरे बाप की मृत्यु हुई मैं सबसे छोटा बेटा था सभी को बुलाकर मेरे बाप ने कान में कुछ कहा मुझे भी बुलाया और मेरे कान में कहा कि तू अभी ज्यादा नहीं समझ सकता है लेकिन तू जो समझ सकता है उतनी बात मैं तुझसे कह देता हूं और ध्यान रख अगर इतनी बात तूने समझ ली तो जिंदगी में और कुछ समझने की जरूरत ना पड़ेगी छोटी सी बात जो तेरी समझ में आ जाए वो मैं तुझसे तो ये कह जाता हूं कि मरते हुए बाप का ख्याल रखना इतनी सी बात को मान मान लेना मेरे पास देने को और कुछ भी नहीं तो गुरुजी एक छोटे से बच्चे ने कहा कि आप कहें मेरे भरसक में चेष्टा करूंगा उसके बाप ने कहा बहुत कठिन काम तुझे नहीं दूंगा क्योंकि तेरी उम्र ही कितनी इतना ही कहता हूं तुझसे जब भी कोई ऐसा काम करने का ख्याल आए जिससे तुझे या दूसरे को दुख होगा तो 24 घंटे रुक जाना फिर तू करना उस लड़के ने पूछा फिर मैं कर सकता हूं उसके बाप ने कहा कि तू पूरी ताकत से करना और बाप हंसा और मर गया गुरजीएफ अपने संस्मरण में लिखता है मैं जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं कर पाया मेरे बाप ने मुझे धोखा दे दिया उसने कहा 24 घंटे बाद कर लेना लेकिन 24 घंटा तो बहुत वक्त 24 सेकंड भी कोई बुरा काम करते वक्त रुक जाए तो नहीं कर सकता 24 सेकंड भी क्योंकि उतने में ही होश आ जाएगा कि मैं अपनी दुश्मनी कर रहा हूं इसलिए बुरा काम हम बहुत शीघ्रता से करते हैं देर नहीं लगाते अगर एक मित्र को सन्यास लेना है तो वो पूछता है कि एक साल और रुक जाऊं उसको जुआ खेलना है तो वो नहीं पूछता अगर उसे संन्यास लेना है तो वो पूछता है कि एक साल रुक जाए तो कोई हर्ष है लेकिन उसे क्रोध करना होता है तब वो एक सेकंड नहीं रुकता बहुत आश्चर्यजनक है अच्छा काम करना हो तो आप पूछते हैं थोड़ा स्थगित कर दें तो कोई हर्ष है और बुरा काम करना हो तो तो तत्काल कर लेते हैं तत्काल एक सेकंड नहीं चूकते क्यों वो बुरा काम अगर एक सेकंड चूके किया नहीं जा सकेगा और उसे करना है इसलिए एक सेकंड स्थगित करना ठीक नहीं और अच्छे काम को करना नहीं है इसलिए जितना स्थगित कर सके उतना अच्छा जितना टाल सके उतना अच्छा हम अच्छे कामों को टालते चले जाते हैं कल पर और बुरे काम करते चले जाते हैं आज और एक दिन आता है कि मौत कल को छीन लेती बुरे कामों का ढेर लग जाता अच्छे काम का कोई हाथ में हिसाब ही नहीं होता मैंने सुना है एक आदमी मरा एक बहुत करोड़पति जैसी उसकी आदत थी गवर्नर के घर में भी जाता था तो संतरी उसको रोक नहीं सकता था प्रधानमंत्री के घर में जाता था तो संतरी हटकर खड़ा हो जाता था उसने तो सोचे नहीं कि नरक की तरफ जाने का कोई सवाल है सीधा स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंच गया जोर से जाकर दरवाजा खटखटाया दरवाजा खुला ना देख के नाराज हो गया द्वारपाल ने झांक के देखा और कहा कि मां से इतने जोर से दरवाजा मत खटखटाइए और उस आदमी ने कहा कि मुझे भीतर आने दो द्वारपाल उसे भीतर ले गया पूछा द्वारपाल ने कि ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से स्वर्ग में इतनी तेजी से आ रहे हैं द्वारपाल ने जाके दफ्तर में कहा कि जरा इन महाशय के नाम का पता लगाएं क्योंकि अभी को हमें कोई खबर भी नहीं कि इस तरह का आदमी स्वर्ग में आने को है इनके हिसाब में कुछ है बड़ा लंबा हिसाब था पोथे के पोथे थे दफ्तर का किला थक गया उलट उलट के पर उसने कहा कि कहीं कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं पड़ती हाँ कई जगह इस आदमी ने अच्छे संकल्प करने की योजना बनाई लेकिन पीछे लिखा है स्थगित पोस्टपोन्ड ये कई दफे स्वर्ग मिलते मिलते चूक गया कई दफे इसने योजना बनाई कि ऐसा कर दूं फिर इसने स्थगित कर दिया फिर भी उस द्वारपाल ने कहा कि बेचारा इतनी मेहनत करके आ गया है थोड़ा खोज लो शायद कोई थोड़ी बहुत जगह इसने कुछ ना कुछ किया हो बड़ी खोज के पता चला कि इस आदमी ने एक नया पैसा किसी भिखारी को कभी दान दिया था लेकिन कोष्टक में यह भी लिखा है कि भिखारी को नहीं दिया था इसके साथ दो तीन आदमी खड़े थे वो क्या कहेंगे अगर एक पैसे के लिए भी इंकार करेगा इसलिए दिया था मगर दिया था उसने एक पैसा दिया था वो स्थगित नहीं किया था कारण दूसरा था लेकिन भिखारी को एक पैसा इसने दिया था उस करोड़पति के चेहरे पर थोड़ी रौनक आई लगा कि कुछ आसार स्वर्ग में प्रवेश के बनते हैं उस क्लर्क ने कहा लेकिन इतने से आधार पर और वो भी धोखे का आधार क्योंकि इसने इसने भिखारी को दिया ही नहीं इसने अपने मित्रों को दिया है दिखाई पड़ा कि भिखारी को दिया इसलिए तो भिखारी आप अकेले हो तो आपसे भीख नहीं मांगते दो चार मित्र तो पकड़ लेते जानते हैं तरकीब कि भिखारी को कौन देता है वो दो चार जो आदमी पास खड़े हैं उनकी शर्मिंदगी में कि क्या कहेंगे कि आदमी एक पैसा नहीं दे पा रहा आप भी दे देते हैं और आप दे देते हैं तो उनको भी देना पड़ता है कि आदमी क्या कहेगा मगर ये आपसी लेन देन है इसका भिकारी से कोई भी संबंध नहीं है फिर भी इसने दिया था तो क्या करें तो उस क्लर्क ने कहा एक ही उपाय है वो एक पैसा इसे वापस कर दिया जाए और नर्क की तरफ वापस भेज दिया जाए इस आदमी ने बड़ी टेक्निकल गड़बड़ खड़ी कर दी है एक दफा और स्थगित कर देता जिसका इसका क्या बिगड़ता था टेक्निकल भूल हो गई हम स्थगित किए चले जाते हैं जो भी शुभ है उसे शायद मौत के बाद हम करेंगे और जो अशुभ है उसे हम आज कर लेते हैं कि पता नहीं कल वक्त मिला कि ना मिला मित्र वो है अपना जो अशुभ को स्थगित कर दे और शुभ को कर ले और शत्रु वो है अपना जो शुभ को स्थगित कर दे और अशुभ को कर ले एक क्षण रुक के देख लेना कि जिस चीज से दुख आता हो उसे आप कर रहे हैं तो फिर अपने शत्रु है और जो अपना शत्रु है उसकी अधो यात्रा जारी है वो नीचे गिरेगा गिरता चला जाएगा अंधकार और महाअंधकार पीड़ा और पीड़ा वो अपने ही हाथ से अपने को नरक में धकाता चला जाएगा लेकिन जो व्यक्ति अपना मित्र बन जाता है वो ऊपर की ऊर्ध्व यात्रा पर निकल जाता है उसकी यात्रा दिए की ज्योति की तरह आकाश की तरफ होने लगती है वो फिर पानी की तरह गड्ढों में नहीं उतरता अग्नि की तरह आकाश की तरफ उठने लगता है ये जो ऊपर उठती हुई चेतना है यही योग है अपना मित्र होना ही योग है अपना शत्रु होना ही अयोग है ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाना ही आनंद है कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि योग है मंगल अर्जुन और सार सूत्र है कि आत्मा स्वतंत्र है अपना अहित भी कर सकती हित भी अहित करना आसान क्योंकि गड्ढे में उतरना आसान हित करना कठिन क्योंकि पर्वत शिखर की ऊंची चढ़ाई है लेकिन जो अपना मित्र बन जाए वो जीवन में मुक्ति को अनुभव कर पाता है और जो अपना शत्रु बन जाए वो जीवन में रोज बंधनों काराग्रहों में गिरता चला जाता है इस सूत्र को अपने जीवन में कहीं कहीं रोक के उपयोग करके देखना तो ख्याल में आ सकेगा कुछ चीजें हैं जिन्हें समझ लेना काफी नहीं जिन्हें प्रयोग करना जरूरी है ये सब के सब लेबोरेटरी मेथड्स से हैं ये जो भी कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कृष्ण उन लोगों में से नहीं है जो एक शब्द भी व्यर्थ कहे वे उन लोगों में से नहीं है जो शब्दों का आडंबर रचे वे उन लोगों में से नहीं है जिन्हें कुछ भी नहीं कहना है और फिर फिर भी कहे चले जा रहे हैं वो कोई राजनीतिक नेता नहीं है कृष्ण उतना ही कह रहे हैं जितना जितना अत्यंत आवश्यक है और जितने के बिना नहीं चल सकेगा प्रयोगात्मक है उनके सारे वक्तव्य एक एक सूत्र एक एक जीवन के लिए प्रयोग बन सकता है और एक सूत्र पर भी प्रयोग कर लें तो धीरे धीरे पूरी गीता बिना पढ़े आपके सामने खुल जाएगी और पूरी गीता पढ़ जाए और प्रयोग कभी ना करें तो गीता बंद किताब रहेगी वो कभी खुल नहीं सकती उसे खोलने की चाबी कहीं से प्रयोग करना है इस सूत्र को समझे जांचे अपने मित्र हैं कि शत्रु बस इस छोटे से सूत्र को जांचते चले और थोड़े ही दिन में आप पाएंगे कि आपको अपनी शत्रुता इंच इंच पर दिखाई पड़ने लगी कदम कदम पर आप अपने दुश्मन हैं और अब तक की पूरी जिंदगी आपने अपनी दुश्मनी में बिताई है और फिर रो के चिल्लाते हैं कि मैं अभागा हूं दुख में मरा जा रहा हूं अपने ही हाथ से कोड़े मारते हैं अपनी ही पीठ पर लहू लुहान कर लेते हैं और दूसरे हाथ से लहू पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरा भाग्य अपने ही हाथ से दुख निर्मित करते हैं और फिर चिल्लाते हैं मेरी नियति नहीं कोई नियति नहीं है आप ही है और अगर कोई नियति है तो वह आपके द्वारा ही काम करती है और आप उस नियति को मार्ग देने में परम स्वतंत्र हैं क्योंकि आप परमात्मा के हिस्से हैं आपकी स्वतंत्रता में रत्ती भर कमी नहीं है आप इतने स्वतंत्र हैं कि नर्क जा सकते हैं आप इतने स्वतंत्र हैं कि स्वर्ग निर्मित कर सकते हैं आप इतने स्वतंत्र हैं कि आपके एक एक पैर पर एक एक स्वर्ग बच जाए और आप इतने स्वतंत्र भी हैं कि आपके एक एक पैर पर एक एक नरक निर्मित हो जाए और सब आप पर निर्भर है आपके अतिरिक्त कोई भी जिम्मेवार नहीं है तो अपने मित्र हैं या शत्रु इसे थोड़ा सोचना देखना और धीरे धीरे आप पाएंगे कि शत्रु होना मुश्किल होने लगेगा मित्र होना आसान होने लगेगा और तब इस सूत्र को पढ़ना तब इस सूत्र के अर्थ अभिप्राय प्रकट होते हैं